का सांप काटे वो मरेगा नहीं यही एक औषध है जिसके साइड इफेक्ट बहुत है हाँ इसलिए देने में सावधानी इसको देना तो जीप पर है जैसे मैंने अभी इनको दिया दो थेम डाला ऐसे ही दो थेम डालना है और 10-10 मिनट से तीन बार डालना जिसको भी सांप काटेगा कोई भी सांप काटेगा रसल्स वाइपर हो करेट हो फुरसा हो नाग हो कोबरा हो किंग कोबरा हो पाइथन हो दोन दिन थे सीधे जीप पर दस दस मिनट के अंतर से तीन बार तो वो आदमी को तीन ही बार आपने दे दिया तो जान उसकी बच जाएगी कोई जरूरत नहीं कई बार तो दवा खाने तक ले जाने का समय नहीं है ये तो लेके गए थे दवा खाने तक लेकिन तो बीच में ही मृत्यु हो गए क्योंकि जो बहुत जहरीले सांप है ना एक डेढ़ घंटे में तो जहर उनका पूरे मस्तिष्क में पहुंच जाता है बड़ा आदमी है तो तीन साढ़े तीन घंटे तक संघर्ष करता है बच्चे तो एक सवा घंटे में मुश्किल हो जाता है बहुत अच्छा है घर में रखिए ग्राम पंचायत में रखिए इसके साइड इफेक्ट हैं अगर जो सांप ने नहीं काटा और ये औषधि दे दिया तो भी मृत्यु हो सकती है इसलिए पहले कंफर्म कर लेना कि सांप ने ही काटा तो चिंता करने की जरूरत नहीं है औषध देना तो भी नहीं देना तो भी कोई उससे नहीं मरेगा और तकलीफ भी नहीं आएगी सांप ने काट लिया है ये कंफर्म है वो विषारी है नहीं है निशुक्त है नहीं है वो आप मत सोचो आप इतना ही देखो सांप ने काटा क्या क्योंकि आपको कैसे मालूम वो विषारी है नहीं है वो तो मैं देख के पता कर सकता हूं जिनको बहुत एक्सपीरियंस है आपको तो नहीं आप इतना ही पता करो कि सांप ने काटा अगर काटा तो दे दो सांप ने काटा है तो देने पे इसको कोई हानि नहीं है नहीं काटा तो दे दिया तो तकलीफ है अब सांप ने काटा ये पता कैसे चले तो हमेशा याद रखो जब भी सांप काटता है तो जहां काटेगा वहां सूझ आ जाती है और उसके दो दांत के निशान रहते हैं हमेशा और सांप के दांत के निशान कभी मिटते नहीं जिंदगी पर्यंत रहते कभी भी नहीं मिटते कितनी भी औषध लगाओ कुछ भी लेप करो वो नहीं मिटते कोई भी औषध खाओ तो भी नहीं मिटते वो निशान ऐसे होते हैं तो आप शरीर में ध्यान से देखोगे तो या तो सूज आई होगी सूज जहां है वहीं पे निशान मिलेंगे दो दांत के निशान और बराबर इस स्पेस पर रहते हैं तो आप कंफर्म कर सकते हो कि सांप ने काटा है तो उसी समय ये औषध दे देना कम से कम साढ़े तीन घंटे के अंदर ये औषध मिल जानी चाहिए और बच्चों को एक से डेढ़ घंटे के अंदर मिल जानी चाहिए ये जहर है ये सांप का ही जहर है देगा वो उसको ये बोलना हमारे डॉक्टर ने कहा है ये नहीं कहना कि हम लोगों को देने के लिए लेके जा रहे हैं तो वो नहीं देगा वो कहेगा तुम डॉक्टर है क्या तो कहना नहीं हमारे डॉक्टर ने बोला तो हम लेके जा रहे हैं चिट्ठी मांगेगा तो लिख के ले जाना अपने हाथ से आर एक्स आर और एक्स हम्म। तो ये औसत तो सबको रखना ही चाहिए ठीक है